संस्कृत उसका दूसरा नाम वास्तव में क्योंकि भ्रांति ना हो लोगों को मकड़ी के लिए इसलिए इसका नाम दे देंगे लूता कीट तो ज्यादातर बड़ा जाल नहीं बनाता है एक धागा बना देता है उसी से वापस चला जाता है कभी कभी वो गर्मी वगैरह के दिनों में बहुत कम मिलते हैं उसको कीटाणु वगैरह उस स्थिति में वो क्या बोलते पांच छह बना देता है बना करके वो एक जगह बैठा रहेगा किसी से भी उतर सकता है किसी में निशान में उतर सकता है किसके लिए जाल बनाता है नहीं तो उसे जाल की जरूरत नहीं बरसात हो रही तो हमने जाल बनाता ही नहीं कि जरूरत ही तरह सारे कीटाणु होते हैं सीधा आया अपना मारा अपने चल दिया बात खत्म हो गई अब हर दिशा से उसको पकड़ना पड़ जाता है गर्मी के दिनों में तब वो बनाता है और ये छोटे मोटे पेड़ों में दिखेगा नहीं इसलिए कीटाणु कीट जो है बड़े पेड़ों में वो जैसा सबको सृजन करता है और ग्रहण भी कर लेता दूसरा स्थान यदा प्रतिव्याम ओष जैसा वो तो सूक्ष्म हो गया ये सर्वत्र व्यापक दृष्टान्त नहीं है वो उससे भी अस्थूल दृष्टान लेता है जैसे पृथ्वी में औषधिया उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं पेड़ पौधे अभी जंगल वगैरह है तो पहाड़ में कौन काट रहा है कौन क्या कर रहा है पैदा हो रहे हैं पता नहीं कितने पैदा हो रहे हैं आप जहाँ सूख जाते हैं मर जाते हैं गिर जाते आंधी तूफान से वहीं गल खुलकर मिट्टी वापस है ही ऐसा घनघोर जंगल दुनिया भर के हैं जहां पर आज तक आदमी ने प्रवेश करके देखा तक नहीं ऐसे भी घनघोर जंगल है बहुत इसी हिमालय के गोदी में तो पता नहीं कितने ऐसे हैं जहां कोई पहुंचा ही नहीं लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पेड़ पौधा पैदा नहीं हो रहे हैं और नष्ट नहीं हो रहे हैं और लग गए कहाँ पर हो उसी पृथ्वी में तो लय हो गए ये तो पेड़ों के ढेर लग जानी चाहिए कि पर गिरते गिरते गिरते दुनिया भर की इतने लाख साल हो गया पृथ्वी हुए लेकिन नहीं वो सब गल जाता है वापस पृथ्वी में लय होता है उससे भी स्थूल दृष्टान देना चाहते हो जब लय नहीं होता लेकिन स्थूल दृष्टान दे रहे हैं जैसे यथा सदा पुरुषार्थ जिंदे आदमी के हाथों में केशलो मानी केश और लोम आप बार बार मुंडन करते फिर खेती बिना गोबर का पैदा होते रहते जो खाते पीते वही गोबर है इसके लिए वो बार बार पैदा होते रहते केश लोम नख इत्यादि दृष्टांत नहीं नहीं इसलिए स्थूल स्थूल दृष्टान देते जाते आदमी समझने के लिए निष्पन्न उसी में हुआ और उसी में लय होना इसके दृष्टांत एक दिया है दूसरा भी उसी में लय होने का दृष्टांत थोड़ा स्थूल एक तीसरा दृष्टान उसमें लय नहीं होता है उत्पन्न तो हुआ लय तो उसी ज्ञानी को ही तो अनुभव है ना हम तो ये देख रहे हैं सृष्टि पैदा ही हो रहा है कि सृष्टि कभी लय होता है किसने देखा इस लय का दृष्टान की बिना भी ऐसा एक दृष्टांत लिया जहाँ लय आपको देखने को नहीं मिलता है इनके उत्पत्ति दिखाई देती है केश लोमा ऐसा है ये नहीं कि हम केश लोम यहाँ हो रहे हैं नाखुन में हम काट लेते हैं उसको अंदर ही हम ले रहे हैं कहा अंदर जा रहा है खाते ही कोई उस चीज को वापस कोई नहीं इसे बिना लय का भी दृष्टान्त दिया है अत्यंत स्थूलतम दृष्टान्त तथा अक्षरा सम्भूति है विश्वम ठीक उसी प्रकार से अक्षर से यहाँ विश्व पैदा होता है क्योंकि इसलिए भी इस तरह का तीन प्रकार दृष्टान्त है कुछ तो आप देखेंगे कार्य पृथ्वी से कार्य पैदा हुआ वो आपस मिट्टी होता हुआ कारक्रमण आप देख भी सकते हैं लेकिन कई चिन्ह हैं जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कार्य जो कारण रूप में नहीं परिणत नहीं होते कि तो रूपांतरित हो जाते हैं फिर उस प्रकार लौटते हैं घूम के सीधे नहीं आता हुआ दिखता इसलिए भी हम लोग का केशव लोग क्या है वो भी अंत मिट्टी में गया मिट्टी में वो भी कल के एकदम खत्म हो जाएगा जिस मिट्टी से सब्जी वगैरह बन करके आपने खाए और ये सब बना फिर वापस वही मिट्टी में हो लेकिन साक्षात जहाँ पैदा हो रहा वही लय होता हुआ नहीं दिखाई देता लेकिन इसमें प्रोसेसिंग होते वापस पूरी प्रक्रिया आपको अपना करके अंत तो मिट्टी में मिलने का दृष्टान्त है इसलिए कहीं साक्षात लय कहीं परंपरा लय इसलिए जानकर दोनों दृष्टान्त दिया हुआ है नाशिका भूत नहीं अक्षरम इत्युक्तम करे ना भूत योनि है अक्षर तत्व ऐसा आपने कर दिया था तब कथम भूत योनित्व प्रसिद्ध दृष्टान्त ही तो उसके भूत योनित्व कैसे हो सकता है ये शंका जब हुई तो प्रसिद्ध दृष्टान्त के द्वारा उसी शंका का निवारण किया जा रहा है यथा लोके प्रसिद्धम यथा जिस प्रकार इस लोक में प्रसिद्ध है उर्णवादी लूता कीट देखो उर्णवादी लूता कीट किंचित कारणांतरम अपेक्षा किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा किए बिना ही स्वयं सृजत स्व शरीर अव्यतिरिक्ता तंतुन वह स्वयं सृजन कर लेता है कैसा स्व शरीर से भिन्न कोई तंतुओं को ग्रहण नहीं करता स्व शरीर से अव्यतिरिक्त तंतुओं को उत्पन्न कर रहा है और उत्पन्न करके बड़ी प्रसार यति वह अपने शरीर से बाहर की ओर उसको प्रसारित कर देता है पुनः और अंत में क्या करता है वो पुनः तानेव गृहण पुनः उनको ग्रहण करके अपने शरीर में अभिन्न कर लेता है अपने अवनवय को गृहणादि स्वात्थ भाव में आपादे स्वास्थ्य भाव को ही आपादन कर लेता है यहाँ पर इसलिए कहते हैं स्कूल में भी हम लोग व्यवहार में क्या है मेरा मकान है मेरा पुत्र है, है कि नहीं स्वयं स्वावयों से पैदा किया और पैदा करके उसको अपने से बाहर कर दिया बाहर करके उसको ग्रहण करता है क्या इसलिए कि उस प्रकार से ग्रहण हो गया जैसे लुता किट में आपने देखा और दूसरे ढंग से भी इसलिए गृहणाती का करके स्व आत्मभाव है ना गृहणाती और मेरी आत्मा है ये मेरा है ऐसा ग्रहण करना भी यह ग्रहण होता है इसलिए भिन्न सदा के लिए रहते हुए भी या पिता मर जाता है बेटा बना रहता है कि नहीं रहता है इसलिए कि पिता मर गया तो बेटा भी मर जाएगा उसी के साथ लय हो जाएगा कार्य कारण में लय हो गया अब कारण ही नहीं रह गया है तो कार्य कैसे रहेगा तो कारण में कार्य लय हो जाता है ना कारण के साथ कार्य भी नष्ट हो जाता है कारण बाप मर गया तो कार्य बेटा मर जाए फिर तो सारा आज संसार होता ही नहीं इसलिए कुछ ऐसे भी दृष्टान देना पड़ेगा इसलिए दो प्रकार से आप मकड़ी जाल में रहेंगे तब उसमें ही घटेगा घृणाति पक्ष दूसरा पक्ष जो है मकड़ी जाल में मेरा है ये जाप ऐसा मान दूसरा मकड़ी आएगा तो उसको मार डालेगा मकड़ी मकड़ी जड़ाएगी झगड़ा देखा कभी नहीं देखा आप लोग हाँ जैसे यहाँ पर गली में एक गली का कुत्ता दूसरा गली का कुत्ता आ जाए छोड़ेगा क्या वैसे इन मकड़ियों में भी है हर जगह यही हाल है महात्मा में कहा छोटा ये यहाँ भी यही हाल है एक क्षेत्र में विद्वान तो चाहेगा अच्छा उस क्षेत्र में दूसरा विद्वान आवे ही नहीं आवेगा तो कैसे उसको भगाए ये हालत है तो भूमियारों की संस्कार बढ़ गया लग रहा है एक भूमियार बच्चा पैदा हुआ तो रोने लगा हो सारे बच्चे तो रोते ही हैं लेकिन पता नहीं कैसे उसकी माँ के मन में मेरा बेटा क्यों रो रहा है बहादुर बच्चा रो रहा क्या बात है उसे पूछा अरे तो बेटा तू क्यों रोया जब जन्म लिया वो कहता क्या अगर मेरा बड़ा भैया आना इसीलिए ये जन्म हो रहा तो उस समय मेरे को मालूम हो गया था मेरा कोई बड़ा भैया है मैं एक में नहीं हूँ अब वो भी उसके उसके संपत्ति बंटवारा कर लेगा ना सारा गड़बड़ होएगा मैं अकेला ही होना चाहता था आपका बेटा आप पहले से पैदा कर रखे ये गड़बड़ हो गया इधर मैं रोया उसे रोने की क्या जरूरत है और क्या करो बड़ा को खत्म कर दो तेरी मर्जी तो अनुमति मिल गया इसलिए आज भूमि आरम यही चलता है दूसरे को जो है तंग कर देते भाई भाई ही कोई छोड़ते नहीं और इधर जहाँ घूम रहा गति तो में बैठे वो तो दूसरा विद्वान को छाएगा अच्छा नहीं अपने आश्रम में अतिथि विद्वान होनी चाहिए दूसरा होना ही नहीं चाहिए तो वही परंपरा सभी में आ गया है आज का संसार तो मकड़ी में भी यही है वो आप तो हमें उसको ग्रहण कर लिया जाल को वो दूसरे मकड़ी को उसके अंदर जैसे प्रवेश नहीं करने देता है क्यों वो उसको अपना पहला हुआ वस्तु को अपना मान करके ग्रहण कर बैठा दोनों प्रकार के लिए श्रेय इसलिए भाषाकार दो प्रकार प्रसार थी पुनः ताने गृहते एक पक्ष दूसरा गृहणाति व स्वात्म भाव में आपादित यथा च पृथ्व्याम औषधो वृह स्थावरांता और दूसरा जैसे पृथ्वी औषध औषध मैंने व्रीही आदि स्थावर सकल वस्तुओं को ले लेना स्वात्म अव्यतिरिक्त एवं प्रभवंती आप पृथ्वी से अभिन्न होकर के ही पार्थिव रूप में उत्पन्न होते हैं और वे पृथ्वी में लय होते हैं यदा जो सतो विद्यमान जीवद पुरुषार्थ के शलोमानी के शास्त्रोमानी संभवंती आए यहाँ अत्यंत विलक्षण के लिए दृष्टान संरक्षण के लिए विलक्षण के लिए और एक संरक्षण में स्व में लय का दृष्टान दिया एक संरक्षण में स्व से भिन्न होता हुआ परंपरा लय का दृष्टान दिया और अब स्व से विलक्षण का दृष्टान दिया खाया पिया क्या चीजें और निकल गए देखो नाखून निकल जाता है बाल निकल जाते हैं अलग ही सुल्पू वाले और जब तक लगे हुए हैं काले बिल्कुल ठीक रहते हैं काट के फेंक दो तो गया विलक्षण है ना और चर्मी पैदा हो रहा है इसको काटोगे तो क्या हो खून आ जाएगा लेकिन केशों को काट दो खून नहीं निकलता तो इसलिए यहाँ पर आप क्या देखते हैं खाए पिए वही चीज सभी ने दाल रोटी सब्जी सब खा रहे हैं लेकिन उसका कार्य देखिए एकदम विलक्षण विलक्षण है कहीं हड्डी बन रहा है मांस कहीं मज्जा कहीं घी तेल सब बन रहा अंदर में सब कुछ बन रहा जब घी तेल कम हो जाए तो कट कट रहे सारे जोड़ ऊपर से घी तेल डालना पड़ेगा को कम पड़ जाता है कहीं नमक ज्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है कहीं नमक कम हो जाए शरीर तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है सब कुछ अंदर बन रहे थे डाला हुई है आपने सारी चीज सामान्य रूपेणा मेरे से विलक्षण विलक्षण कार्यों को आप देख रहे हैं इसीलिए दृष्टान दे रहे यहाँ यथा स्वतः विद्यमान जीवत उस विद्यमान मने जीवित रहता पुरुष से केश और लोम उत्पन्न होते हैं केशाश लोमानी संभवंती कैसा है वो विलक्षण संभवंती यथी दृष्टान्त तथा विलक्षण संरक्षण जैसे दृष्टान्त समझाया गया है उसके अनुसार विलक्षण और संरक्षण निमित्तांतरण होते छात्र लेकिन एक मुख्य चीज है निमित्तांतर की अपेक्षा के बिना सलक्षण और विलक्षण दोनों ही पैदा हो रहे हैं यथा उक्त लक्षणा अक्षरात संबंधी यथोक्त लक्षणा जैसे इन दृष्टान्तों में आपने देखा संरक्षण रक्षण कार्यो को कारण से उत्पन्न होता हुआ निमित्तांतर अपेक्षा की बिना ही उनसे उत्पन्न हुआ करते हैं ठीक उसी प्रकार संरक्षण तत्व से ही निमित्तांतर की अपेक्षा के बिना सब कुछ उत्पन्न होते समुत्पद्यते यह संसार मंडल है विश्वम समस्तम जगत इस संसार मंडल में अर्थ समस्त जगत रूपी विश्व समय प्रकाश उत्पन्न हुआ करता है और उसी में लय होता है अनेक दृष्टान तो प्रबोध प्रबोधनात्म देखो स्पष्ट कर दिया कह सकता आप एक ब्रह्म की दृष्टान एक दृष्टान दे देते कच नहीं सुख पूर्वक प्रबोधन हो जाए अनायास आपको बोध हो जावे क्योंकि कहीं पर मन में रह जाएगा ये कहीं संरक्षण दृष्टान देंगे तो आप कहीं विलक्षण को जो हो रहे कार्य उनको देख फिर शंका खड़ा करोगे यदि विलक्षण दृष्टान दे देते फिर तो संरक्षण कार्य को लेकर आप शंका करते इसलिए पहले से उन्होंने तीनों प्रकार के दृष्टान को रख दिया संरक्षण में भी स्वाप्त भावेना स्व भिन्न होते स्वाप्त भावेना और कहीं स्व अभिन्न होता स्व में लय वाला संरक्षण दो दृष्टान दिया और एक विलक्षण का दृष्टान दिया तीनों प्रकार की जो संभावित कार्य जगत में अनुभव करते हैं और इनके लयन को भी अनुभव करेंगे साक्षात लय कहीं परंपरा लय कहीं पर कालांतर लय कहीं देशांतर लय इन सारे चीजों को मन में रख करके इन विलक्षण दृष्टान्तों को दिया गया है अनायास बोध करने के लिए ही अनेक दृष्टान देना पड़ा यद ब्रह्मणा उत्पद्यमान विश्वम ये सब क्यों कह रहे हैं एक तो भूत योनिम कह करके जो वहां तो पराविद्या के में अपराविद्या का विषय को रख दिया गया था पराविद्या का प्रकरण में अपराविद्या को खत्म करने वाले भूत योनि शब्द को रख दिए थे जान के रखे थे क्योंकि उतने ही मंत्र के छह मंत्रों के बाद समझा दिया गया पहला मंत्र तो छोड़ ही दो तो गुरु परंपरा का वर्णन कर रहा है और बीच में जो था आपका तीसरी चौथी पांचवी और छठी मंत्र इन मंत्रों के द्वारा प्रतिज्ञा वर्ग निर्णय लिया दो प्रकार की विद्या है तीसरे मंत्र में चौथे मंत्र में आपको बताया गई विद्याओं का जो अपरा विद्या किसको किसको कहते हैं पांचवे और छठे मंत्र जो स्पष्ट कर दिया कि परा विद्या का विषय क्या है लेकिन इस प्रकार अपरा विद्या का विषय और परा विद्या का विषय भी भाजन तो समझा लिया कष्ट उठता है ये दो क्यों क्या जरूरत है अरे हम सब मोक्ष के लिए बैठे हुए हैं या वो लोग जो है जिस तत्व को सीधा पूछ तत्व का जवाब देते सीधे ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए था पराविद्या अपराविद्या को बताने की जरूरत क्या थी लाभ कृत कृता करते न आगे आएगा मंत्र वो कैसे ज्ञापन होगा अपराविद्या पूरा कर्म प्रधान है उपासना प्रधान है इनके द्वारा प्राप्त फल अनित्य अरे इसके प्रति जो वैराग्य नहीं करता पराविद्या का अधिकारी ही नहीं ये ज्ञापन कैसे करें हम इसीलिए जान के और कर्मफल अनित्य क्यों है ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि सृष्टि ही अनित्य है उत्पन्न विनाशशाली है उत्पन्न लय वाली है यह बात आपको सिद्ध करने के लिए ये सारी प्रक्रिया सातवें मंत्र से आरंभ हुई है यह ब्रह्मणा ब्रह्मणा उत्पद्यमान विश्वम जो ब्रह्म से उत्पन्न होने योग्य विश्व है तब अनेन क्रम उत्पत्ति वह अमुक क्रम से उत्पन्न होता है या नहीं होता है न युगपत भद्र मुष्टि प्रक्षेप बनी थी या हो सकता है युगपत एक साथ जैसे मुट्ठी में अनेक बार फेंक दी सारा जगत को फेंक करके ब्रह्मा जी ने खड़ा कर दिया ये आशंका जब हुई प्रक्षेपी थी चेत न क्या क्रमणोत्पत्ति मुष्टि को प्रक्षेप होती उत्पत्ति देवा यदि चेत न ऐसा क्रम जो उत्पन्न होगा या पद प्रक्षेप के समान युग पद उत्पन्न होगा ऐसे आशंका होने पर कहते युग पद की आशंका आप न करें क्रम से ही होता है तो क्रम से ही होगा तो क्रम क्या होगा क्रम नियम विवक्षा स्वयं मंत्र आरभ्य दे क्रम में भी नियमन है यानी कि कभी कुछ कभी कुछ क्रम हो जाए अरे क्रम के नियम को विवक्षित नियम को कथन करने की इच्छा से अब मंत्र आरंभ होता है तपसा चीयते ब्रह्म तो विजायते अन्न प्राणो मन सत्यम लोका कर्म सुचामृतम ये क्रम है तपसा चीयते ब्रह्म तब द्वारा वो अक्षर ब्रह्म मोटा हो गया चीयते का अर्थ होता है मोटा हो गया और मोटा होने के बाद क्या हुआ मैंने गर्भिणी हो गया अरे आदमी और गरीबड़ी कैसी होगी आत्मा पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा वाले पिता के समान ज्ञान रूपी या तप है जैसे पुत्र की इच्छा करते हुए पिता अपने मन में निश्चय कर लेता है मन में ज्ञान अगर वृत्ति होती है और वृत्ति के आधार पत्नी संबंध करके पुत्र उत्पत्ति के प्रयास करता है उसी प्रकार से यहाँ ज्ञान रूपी तप लेना उस ब्रह्म में ज्ञान शक्ति प्रधान कार्य करना तो ज्ञान शक्ति प्रधान होकर जब ज्ञान शक्ति क्रियाशील हो जाती है तो संकल्प होता है और संकल्प ही यहाँ पर कह दिया फूल गया स्थूल हो गया मोटा हो गया तो मोटा होने का मतलब वह निर्गुण निराकार में अब निराकार सगुण की उत्पत्ति ये इसका फूलना है और संकल्प होना है होता अभी साकार तो नहीं आया आकार बाद में होगा जब तत्व तो अन्नम अभिचाय और बीच की सारी कड़ियों को छोड़ दिया सीधा तो सृष्टिमानम में चला गया इसे अन्न का अर्थ भी क्या लेना अलग अर्थ लेना पड़ेगा क्योंकि आगे कर दिया प्राण अन्न केवल प्राण कहा से प्राण केवल मन उल्टा कर प्रक्रम हो जाएगा ना इसे अन्न शब्द का अर्थ भी अलग गया प्राण शब्द का भी अर्थ अलग है मन शब्द को देखते हुए आपको अर्थ भिन्न करना पड़ेगा इसको कहते हैं तो वह जो तथो अन्नम विजायते उससे जो क्या पैदा हुआ अन्न पैदा हो गया अन्नम कदम से लेना या अव्याकृतम साधारण संसारी नाम व्याचकितावस्था आरोपेण विजायते यह करेंगे स्पष्ट ही वह अव्याकृत को ही लेना है यहाँ फिर अव्याकृत सबसे भी क्या लेना वो भी समझना है और उस अन्न से अन्ना प्राणो अन्न से प्राण हुआ प्राण हो गया स्थूल हिरण्य गर्भ पहले अव्याकृत ईश्वर को लेना समझती में ईश्वर अव्याकृत माया व चैतन्य फिर वो अंतर्यामी हो गया हिरणगर्भ हो गया सर्वव्यापक हो गया उसको लेना प्राण शब्द से फिर मन फिर मन आया उसके बाद मन पद प्राण से मन मन नाम से क्या हुआ संकल्प विकल्पात्मक जो संशय निर्णयात्मक जो कुछ भी है वो सारा अंतकरण बुद्धि तत्व उत्पन्न हो गए फिर उस मन से सत्यम तो संकल्प विकल्प से क्या हुआ ये पंचभूत पैदा हो गया सत्यम सत्य और क्या दो भाग है सत आकाश और वायु त्यक त्यक्त मने अग्नि जल पृथ्वी सत्य और त्यक्त मिलकर के सत्यम पंचभूतापत्ति इसे जब मन बुद्धि तक पर जाने के बाद अहंकार होता है अहंकार से तन्मात्रा है तन्मात्र से पंचभूत होता है ना एक क्रम है लेकिन उसको यहाँ पर शॉर्टकट कर दिया सीधे ही कह दिया मन से सत्य पैदा हो गया संगल मन जैसे हुआ अंत कर्ण के बाद ही पंचभूतों की उत्पत्ति होगी समष्टि में अब पंचभूतों का फिर पंचीकरण होकर के लोका समस्त लोग उत्पन्न हुए और उन लोगों में कर्मसु अमृतम कर्म से कर्म उत्पन्न हुए उन्हें मनुष्य आदि के अनुरूप कर्म हो गया और कर्मों के से जन्य अमृतम अमृत मने कर्म फल कर्मजन्य फल में अमृत कर दिया सबको अमृत कैसे कह दिया इसलिए कहते यावत काल पर्यंत कर्म है तावत काल पर्यंत फल तो रहेगा ही और कर्म करते रहे अरे कल्याण एक की होती है सृष्टि की थोड़ी हो जाती है नाम उत्तम दे कर्म कल्प कोटि सुतई कोई अवधि नहीं है व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मुक्ति हो जाता है तो कर्म निवृत्त हो जाएगा तो उसके लिए संसार भी नहीं है और ये सब सृष्टिया भी नहीं ना फल है ना कर्म है ना कुछ यहाँ जिसका कर्म उसके लिए है ना कर्म से अमृतम इसलिए जिनके यहाँ कर्म है उनको लेकर कहा जाए ज्ञान वर्ग तो कह रहे हैं कह नहीं रहे यहाँ पर प्रकरण ही उसका नहीं है इसलिए यहाँ कर्मी को लेकर जब कह रहे हैं फल को अमृत तो समझे कि कर्मी कितने कितना कब तक रहेंगे उसका तो कोई ठिकाना नहीं अनंत काल तक कर्मी है अतएव कर्म भी है तो उसका फल होता लोक भी अंत काल तक रहेगा इसलिए सृष्टि को अनादि और अनंत कर दिया ये चक्र चलते ही रहेगा कर्म अमृतम भाषिका तपसा ज्ञान उत्पत्ति विधिज्ञतया ज्ञान के द्वारा उत्पत्ति विधि का ज्ञाता होने से मैंने भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति जीवों की सृष्टि जीव चराचर जो हुए हैं इन चराचरों की सृष्टि के विधि का जानने वाला है वो इसलिए उसके ज्ञान रूपी तप के द्वारा भूत योनि अक्षर ब्रह्म चियते उपचियते भूतों का योनि जो अक्षर है ब्रह्म दत्त है वह स्थूलता को प्राप्त उपचियते औषध इदम जगत इस जगत को उत्पन्न करने की इच्छा से उसके अंदर स्थूलता आ गई स्थूलता भी कैसे दो दृष्टान जान के दे रहे भाषिकार एक तो जो निर्गुण निराकार होते हुए भी वो समुद्र निराकार होने जा रहा है इसलिए कहते हैं अंकुर बीज उच्चुलतांग जैसे बीज अंकुर दशा को प्राप्त होने के लिए उच्चुलता को प्राप्त होता है कि नहीं फूलता है और वो अंकुर बन जाता है तो बड़ा हो जाता है छोटा सा था बीज उतना सा बड़ा हो गया वैसे अगर हम छोटा सा था तो बड़ा हो गया ऐसा अर्थ नहीं करना दृष्टांत यहाँ पर स्व अभिन्न होते हुए स्व से विलक्षण का अनुभूति क्यों बीज ही अंकुर हुआ है बीज से भिन्न कोई अंकुर नहीं है बीज ही अंकुर हो गया है लेकिन बीज से अंकुर तो विलक्षण है बीज अंकुर विलक्षण है या नहीं क्योंकि बीज का अपना जो स्वरूप था बीजत्व स्वरूप वो खत्म हो गया और अंकुरित स्वरूप वो आ गया इसी प्रकार से ब्रह्म जो कारणत्व रूपी ज्ञान शक्ति थी वो अब क्रिया शक्ति रूप कार्य रूप परिणत हो उसी परिणाम विशेष को ध्यान में रख करके यहाँ पर कहा जाता है उच्चनतांग गति दृष्टा दिया इसलिए पुत्रम पिता हर्षेण जैसे पिता हर्ष के मारे फूल गया अरे फूला कितना दो दो फुट लंबा चौड़ा हो जाएगा क्या हर्ष से फूलना क्या होता है एक मिलीमीटर भी बढ़ता नहीं है शरीर बढ़ता है क्या कहीं शरीर क्योंकि तो चेहरे में अंतर बढ़ जाता है थोड़ा सा मारे नहीं तो दूर हो जाए लड़की कर देता है लड़का हा करता है बस इतना ही फर्क है और है क्या अब पिता को खुशी हो जाती है और खुशी से वो फूल गया का मतलब यही है कुछ नहीं है उसी तरह से इसने दूसरा स्थान क्या दे दिया जहाँ आप अंतर तो देखते तो है कार्य में अंतर है ना लड़की जन्म हुई कहने से जो प्रभाव उस आदमी पर है पुत्र का जन्म हुआ कहने से जो प्रभाव होता है दोनों प्रभाव में अंतर है उसी प्रकार के कारण और ब्रह्म और और ब्रह्म उसी प्रकार का अंतर समझो अत्यंत सूक्ष्म है वास्तव में कोई विलक्षण उत्पत्ति भी नहीं है पहले विलक्षण उत्पत्ति बता करके फिर सलक्षण उत्पत्ति के लिए दृष्टान दिया एवं दिया सृष्टि से संहार शक्ति विज्ञान अवत्या एवं मैने सर्वज्ञ होने से अर्थात सृष्टि की स्थिति संहार और सृष्टि स्थिति और संहार इन तीनों की शक्ति और विज्ञान वाला होने से उपचिता तारस उपचय के माध्यम से तारस विज्ञान का माध्यम से तथो ब्रह्मणो अन्नम उस ब्रह्म से अन्न उत्पन्न हुआ अन्न क्या है अद्यते बुज्यते की अन्नम जिसका भोग किया जाए वो अन्न तो कौन है वो अव्याकृत साधारण संसारी नाम जो संसारियों का साधारण स्वरूप है सर्वसामान्य स्वरूप है समष्टि रूप है कारण स्वरूप है सामान्य मैंने कारण विशेष हो गया कार्य सामान्य मैंने कारण रूप में माया व्याचिकित अवस्था न विजायते संसारियों के साधारण रूप क्यों लिया क्योंकि संसारियों को उत्पत्ति करने की इच्छा से अवस्था और विशेष को जो चिकित्सित अवस्था चिकित अवस्था विशेष उस अवस्था विशेष उसके अंदर उत्पन्न हो गया उत्पत्ति थे पहले वो मन में ज्ञान हुआ मुझे संसारियों को पैदा करना है और फिर पैदा करूं ऐसी इच्छा की एक दो फर्क ज्ञान शक्ति अवस्था में वो फूल गया व्यवहार हो गया और उत्पन्न करने की इच्छा जो शक्ति अवस्था हुई उस इच्छा शक्ति क्रिया उत्पन्न हुई इच्छा रूपी क्रिया हुई अंदर में वह क्रिया होने से उसके अंदर कहते उसका व्याकृत अवस्था को उन्होंने कहा अन्नम अभिजाते तदश्च व्याकृता अवस्था बताओ इस प्रकार के अन्न से मैंने अव्याकृत अव्याकृत का तात्पर्य क्या संसारी उत्पत्त करने की इच्छा की एक अवस्था विशेष कार्य अवस्था विशेष वाला ब्रह्म से अन्नाथ प्राणो हिरण्य गर्भ अब यह ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति पूरा समन्वय हो गया या जाना इच्छति यदि अक्रिया शक्ति पूर्ण रूप धारण कर लिया जानाती अवस्था ब्रह्म अवस्था इच्छती अवस्था उच्छुनता स्थूलता और यदते जो क्रियावस्था है वो साक्षात जो है वो हिरण्य गर्भ अवस्था हो गया उसको इन्होंने प्राणा अल्लाह प्राणो भवती तो अविद्या काम गर्भ कहते वो ब्रह्मणा ज्ञान क्रिया शक्ति दृष्टि का जगत साधारण क्या है वो हिरण्य गर्भ ज्ञान क्रिया शक्ति से अधिष्ठित होकर जगत का सर्वसाधारण स्वरूप है अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजांकुरो जगदात्मा अभिजाति तिनुसंग अविद्या कारण कर्म भूत समुदाय समष्टि रूपा बीज और अंकुर युक्त स्वरूप है वो जगदात्म स्वरूप है जगद रूप को प्राप्त कर लिया है अभी सूक्ष्म ही है स्थूल नहीं हुआ स्वर्ण साकार नहीं हुआ है अभी तो पंचभूत ही नहीं उत्पन्न हुए है ना अभी तो भूतों में उत्पत्ति हुआ सृष्टि सृष्टि ही सृष्टि होना है इधर इस अवस्था में क्या कहते हैं जगदात्मा अभिजायते जगत रूपेण अपने अंदर एक स्वरूप जैसा स्वप्न में कल्पना कर लेते हैं या जागृत में भी आपने अपने जो भी चीज बनाना होता है मन में उसकी कल्पना बना लेते हैं इसलिए कई बार जब बिगड़ देता कहते जैसे मैं चाहता था वैसे नहीं हुआ कहते कि नहीं करते तो हलवा बनाने के और बन गया लपसी अब क्या करे ये हो जाता है तो इसी प्रकार यहाँ पर भी करते अभिजाती थी अनुषंग प्राणात्मनो मनाख्यान संकल्प विकल्प संशय निर्णयाध्यात्मकम विजायते संकल्प विकल्प संशय निर्णयात्मक मननाव बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ कतोपि से सत्यम तो संकल्पाध्यात्मक मन पद से सत्य उत्पन्न हुआ सत्या आकाश आदि भूत पंचका सत्या क्या है आकाश अधिभूत वंचक है टिप्पण कारण कैसे सच अत्यक्ष सत्यम श्रोत उत्पत्ति आ ये श्रोत उत्पत्ति को आधारित तो होकर के एक आधार आए आकाश यदि पंच को उत्पन्न किया गया कसना सत्याख्या भूत अंड अंडक्रम ने सप्तलोका भूराज तारस सत्य नामक भूत पंचक से अंध क्रमेण घोराज ब्रह्मांड उत्पत्ति पूर्वक ही सप्तलोकोत्पत्ति समझना तेज मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणी और उन लोकों में मनुष्यादि प्राणी वर्ण आश्रम इत्यादि क्रम को लेकर के ही विभिन्न प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति हुई कर्म सूचा निमित्त भूतेश अमृतम कर्मजम फलम और कर्म में भी निमित्त भूतेश उससे निमित्त होता कर्मों को लेकर के कर्मजन्य अमृत रूपी फल उत्पन्न हुआ कर्मजन्य फल को अमृत क्यों कहा तो यावर कर्माण कल्प कोट क्षेत्र में नवनशंति परम नवनशति अमृतम जब तक कर्म नाश नहीं होगा तब तक टिकता है और कर्म क्या है कल्प कोट क्षेत्र भी कर्माणि नवनशंति कर्म का नाश होता नहीं इसलिए तब तक यह भी रहता है फल भी अतः फल का भी नाश नहीं होता इस आधार पर इस कर्म फल को भी अमृत शब्द से कह दिया गया इन सब जगह जो कहा जाता है उत्पत्ति हो गया ये उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न हुआ या उत्पत्ति का तात्पर्य विवर्त से ही समझना है विवर्तवादी है यह टीका का तो सब जगह विवर्तते विवर्तते ही लिखते हैं तो बुद्धियादि ही कारक है इसलिए मनुष्य से हम लोगों ने बुद्धियादि तत्व को लिया अंतकरण को ले लिया में समष्टि का अंतकरण समझ लेना है कि नहीं मन से जो उत्पन्न मन है प्राण से जो उत्पन्न मन है वो हिरण गर्भ का अपना समष्टि का अंतकरण है ये सब चलिए इसके बाद दृष्टि आरंभ होगा अंडादि क्रमेण भूरादि लोग जो उत्पन्न होगा वो समष्टि उत्पन्न ही नहीं हुआ दृष्टि का तो तो बाद में आने वाला तो इसलिए वहां तक पूरा का पूरा जो है समष्टि की ही बात कही गई उत्तम अर्थ उपसंच हीर्ष मंत्र क्षमाणार्थम महा उक्त यही पदार्थों को उपसंहार करने की इच्छा से इन अर्थों को कथन करने वाले एक अन्य मंत्र को यहाँ पर उपोदलक रूपेण समर्थक रूपेण कथन करता है वक्षमाणार्थम महा और वक्षमाण अर्थों को भी कहा संक्षेप गुणोत्तर का संबंध जोड़ने वाला एक तरह से मंत्र है यह उक्त लक्षणों अक्षरात्या सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ सर्वविद ज्ञानमय दव तस्मादे ब्रह्म नाम रूपम मनन जायते सबको सामान्य रूप से भी जानता है और सबको विशेष रूप से भी जानता है सर्वज्ञ सामान्य ज्ञान को कहते हैं और सर्वित विशेष ज्ञान को कहते हैं और जिसके यश मयम तपहा जिसका ज्ञानमय तप है ज्ञानमय मय क्या विकार अर्थ में लेंगे ज्ञान विकार ही ज्ञान का विकार क्या है वो सर्वज्ञ हो जो निर्कुट निराकार विशुद्ध ज्ञान सर्वज्ञ हो जाना यह सर्वित हो जाना यही ज्ञान का विकार है तो ज्ञान वास्तव में सर्वज्ञ है न सर्वज्ञ स्वरूपता तो अनुभूति स्वरूप है जो ज्ञान है वो विशुद्ध है वहां पर ये सर्वज्ञ और सर्विस शब्द जो प्रवर है वो औपाधि की है इसलिए कहते हैं वास्तव में जो है ये जो कुछ भी ज्ञान का विकार रूप है वही उसका तप है तस्माद ए तत् ब्रह्म तस्माद तो, तो सर्वज्ञ रूपा सर्वित जिसका ज्ञान में तत् है उससे तारशव से कार्य लक्षण रूपा वो कारण रूपा है उस कारण लक्षण रूपा एक ब्रह्म हिरण्य गर्भ नाम का जो ब्रह्म ये उत्पन्न हो गया और कारणात्मक मायोपाधिक ईश्वर से कार्यात्मक जो हिरण्य गर्भ नाम का ब्रह्म उत्पन्न हुआ और उससे क्या हो गया कहे नाम देव इत्यादि नाम भी हो गया रूपम रूप भी उत्पन्न हो गया रूप कैसे उत्पन्न हुआ रूपम रूपम मने रूप उत्पन्न हुआ देवदत्त आदि का जो स्वरूप है शुक्ल नील आदि लंबा चौड़ा इत्यादि गुण है कारण गुणवान होकर उत्पन्न हो गया अन्न चाहे थे और आवाज अन्न भी उत्पन्न हो गया यहाँ उक्त लक्षण वो अक्षराप्य युक्त लक्षण वाला अक्षर नाम का जो शुद्ध ब्रह्म है वही सर्वज्ञ सामान्य सर्वम जाना थी सर्वज्ञ विशेषण सर्ववेत्ती सर्वित सामान्य रूपेण भी जानता है विशेष रूपेण भी जैसे ज्ञान ज्ञानमयम ज्ञान विकारम एवं मैं प्रति विकार हो तो मैंने कर कह दिया ज्ञान विकारम एवं क्या है ज्ञान विकार सारोग्य लक्षण उसके लिए सर्वज्ञता आ गई है सर्ववित्तता आ गया है यही क्या है ज्ञान में विकार शुद्ध में किंचित अशुद्धि नहीं अशुद्ध हम इसे नहीं गाते शुद्ध सत्व ही है माया का शुद्ध सत्व स्वरूप है इसे अशुद्ध नहीं कहा जाता है इसको है तो विका विशुद्ध में विवर्तता आ गया विवृत विवर्त हो गया उस विशुद्ध में सर्वज्ञता का आरोप हो गया है सर्वित्तता का आरोप कर दिया गया है यह अध्यारोप प्रथम जो अध्यारोप है जो माया के शुद्ध सत्तांश को लेकर जो प्रथम आरोप हो जाता है इसी आरोप को यहाँ पर कह गया ज्ञानमयम तपा न आया रक्षा ये ज्ञान में तब क्यों गाना पड़ा बाकियों का जैसे होता है वैसा नहीं है बाकी लोगों को तप जो होता जैसा उसे बड़ा आयास है बड़ी तपस्या है न कई बार आप गर्मियों में लोग बोलेंगे मुंह से निकलता है जब यहाँ से जाएंगे भंडारा खाने के लिए उधर कहा कोय घाटी की तरफ धूप में जाना धूप में आना फिर बड़ी तपस्या भंडारा था ऐसे लोग कहते अरे किसने कहा तपस्या करते दिन है तो इतने आयास जो हुआ उसी को लोग तप कहते तो लेकिन उस प्रकार का तप या बाई किसी प्रकार से क्रियाकलाप नियम कानून कुछ नहीं ना इस तप में कोई व्रत नहीं कुछ नहीं इसलिए कहते इस तप को ज्ञान में तप कहा आयास बहुत तप नहीं है तस्माथोक्ता सर्वज्ञात कार्य लक्षण ब्रह्म हिरण्य वाक्यम चाहे थे इसलिए तो जो सर्वज्ञ रूपा उस ब्रह्म से कारण ब्रह्म से क्या हुआ या कार्य रूपा ब्रह्म क्या हिरण्य ब्रह्म नाम से जो है वो उत्पन्न हो गया किंच और क्या क्या हुआ नाम असोदेव इत्यादि लक्षण रूपम इधम शुक्ल नीलम इत्यादि अन्नम चाहिए जायते देवदति इत्यादि नाम और उस देवदति का सफेद नीला काला पीला मोटा तगड़ा दुबला पतला इत्यादि इत्यादि वो और कभी अन्नम मैंने इसका जीवित रहने के लिए आवश्यक वृही आवाज लक्षण उसको सब उत्पन्न हुआ पूर्व मंत्रोक्त क्रमेण इति अविरोधो दृष्टव्य ये नहीं कि झट के साथ उत्पन्न हो गया पूर्व मंत्र में कह गई क्रम के आधार पर इसको भी समझनी चाहिए क्योंकि तो मंत्र होता ही है संक्षेप में बोलना आदि मध्यांत को लेकर के इधर उधर के गिटकुड़ा बोल दिया लेकिन समझना चाहिए पूरा क्रम को इस प्रकार से प्रथम मंडक के प्रथम खंड पूरा होने के पश्चात आरम्भ होता है प्रथम मंडक द्वितीय खंड जिसमें कहते सांगावेद अपरा विद्या उठता अवतरण का देते हुए कहते हैं सांग वेद को अपरा विद्या नाम से आपने कह दिया था ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादियों के शब्दों के द्वारा और यदृश्यम इत्यादि के द्वारा नाम रूप वर्णन जायते इतने ग्रंथों से चंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षण अक्षरम ब्रह्म यह इत्यादि गम्यती परावित्या विशेषण उक्ता यदृश्यम इत्यादि से आरंभ करके नाम रूप मन जायते इस मंत्र पर्यंत ग्रंथ के समाप्ति पर्यंत ही मैंने मतलब प्रथम मुंड के प्रथम खंड के परिपूर्णता पर्यंत जो है ना वो अक्षर विद्या अधिकम्य थे इससे संकेतित जो पराविद्या थी उसको कह दिया गया मैंने अपराविद्या और पराविद्या जो प्रतिज्ञात वस्तु है उसको संक्षेप रूप दर्शन करा दिया गया अतः परम अनयोर विद्या और विषय विवेक्तव्य अब उन दोनों के विषयों पर हमें सम्यक विवेचन करना बाकी है कौन सा विषय किस प्रकार का है तो ये दोनों विद्या है विद्या है इसलिए अपनाया जा सकता है लेकिन अपनाने से पहले विचार कर तो लेना होगा किस विद्या का फल क्या है कौन सी विद्या का फल क्या होगा यह निर्णय लिए बिना हम कैसे अपनाएंगे यदि मन मर्जी हो जाएगी कोई पढ़ा ले रहा है कोई अपना ले रहा है पता कौन कहा जाएगा क्या होएगा कुछ नहीं मालूम अपना ये हुआ है वैसे जो है आजकल की जमाना ही यही है अब बच्चे को पता नहीं रहता है पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़ जाए जैसे माँ ने पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते गए और वैसे ये भी पता नहीं रहता इसका आगे काम में आएगा कि नहीं आएगा ना उन्होंने सोचा ना किसी ने सोचा और जब बारहवीं हो जाती तब लटक जाते दिमाग कहा जाए किधर जाए अब कोई डॉक्टरी जा रहा है कोई इंजीनियरिंग जा रहा है कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है उसमें भी कोई निश्चय नहीं उसको भी लेके क्या करना है नौकरी ढूंढना है और मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं और विद्या ही ऐसी बेकार की विद्या है अब लगे रहते लोग यानी निर्णय जो जगत को देखने के बाद हुआ ना जब आप यहाँ आ जाते हैं परा विद्या को अपना लेते तब पता लगता है नहीं तो पता क्या चलेगा आपको इसे विवेचन कर लेना जरूरी है कि अपराविद्या का विषय क्या है पराविद्या का विषय क्या है कौन सा हमें अनित्य फल को देता है कौन सा हमें नित्य फल को देने वाला है और कौन अव्यवहित रूप से अब नहीं तो भविष्य में जरूर देगा गारंटीड फल है ऐसा कौन सा है विद्या जो मोक्ष में फल को निश्चित रूप से देता है और ऐसी कौन सी विद्या है जो अनित्य फल निश्चित रूप से देने वाला है के सब विवेचन करना है इसलिए विद्यो विषयो हो संसार मोक्ष उत्तरो ग्रंथ आरम्भ कौन संसार विफल को देने वाला है कौन सा मोक्ष विफल को देने वाला है ये सब आप विवेचन करना चाहिए इसलिए ये अगला ग्रंथ आरंभ होता है तत्र अपर विद्या विषय विषय कर्तराज साधन क्रिया भेद रूप संसारो अनादि अनंत दुख स्वरूप धातव्य प्रत्येक शरीर भी सावत्य निस्रोतो वद अव्यवच्छेद रूप संबंध तद उपशम मोक्ष पर विद्या विषय अनाद्य अनंत अजरो अमरो अमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंदो अद्वैती क्या है विवेचन वो भी भूमिका में स्वयं भाष्कर वर्णन कर देते हैं पहले तत्र अपर विद्या विषय अपर विद्या विषय क्या है पहला है कर्त्र आदि साधन क्रिया और फल भेद स्वरूप वाला है कर्त आदि साधनों की अपेक्षा रखता है उन साधनों को लेकर आप क्रिया निष्पादन करोगे क्रिया निष्पन्न जब हो जाता है तो उसका फल उपभोग करना ही होगा ये भेद त्रय संपन्न क्रिया फलात्मिका ये अपरा विद्या है और वास्तव में फल स्वरूप कैसा है संसार है संसार भी कैसी है अरे चलो दो चार दिन रहने वाली हो तो आनंद कर लेते हो उसको कहते नहीं वो अनादिकाल से आई हुई है और अनंत काल तक चलते ही रहेगा सृष्टि चलती रहेगी संसार चलते रहेगा इसलिए कोई ठिकाना है नहीं ये संसार समाप्त होगा हमारी मुक्ति होगी ऐसा सोच के कोई इस संसार का भोग नहीं कर सकता क्योंकि अनंत काल तक रहने वाला है चलो अनंत काल तक रहे कोई आपत्ति अनंत आनंद आनंद लुटेंगे कहते आनंद का आनंद क्या लुटोगे ये तो संसार दुख स्वरूप और दुख स्वरूप है इसलिए हाथव्य त्याज और दूसरी प्रत्येकम शरीर भी सामर्थ्य न नदी स्रोत अवच्छेद रूप संबंध तदुपशम लक्षण मोक्ष प्रत्येक शरीर के द्वारा त्यागने योग्य है अभी कैसे त्यागने योग्य थोड़ा का नहीं सामर्थ्य हाथव्य प्रत्येक शरीर के द्वारा इस संसार को पूर्ण रूप में त्याग करने योग्य है और करना क्या है नदी स्रोतोवत रूप संबंध तदुपम लक्षण मोक्ष क्योंकि नदी के स्रोत के समान नदी की स्रोत के समान जो है भी अव्यवच्छेद रूप संबंध वाला है निरंतर चलते ही रहता है इसलिए इसको सहत रूपेण इस संबंध को हमें त्यागना ही होगा और तद उपशम लक्षण मोक्ष उसका उपशम रूपा जो मोक्ष है तारस संबंध के उपशम या संसार के उपशम रूपा जो मोक्ष है पर विद्या विषय पर विद्या का जो विषय है वो कैसा है वो अनंत है दोनों ही अनंत है देखो वो अनाद्य अनंत ये अनंत है ये भी अनाद्य अनंत है लेकिन अनाद्य अनाद्यंश कार्य को मैंने काल निरूपित कथन कर रहे अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा और याद है अनादि अनुशब्द कारण कार्य रहित है आदि शब्द कारण के लिए और अंत शब्द कार्य के लिए अनाद्य अनंत मैंने यहाँ कार्य कारण भाव से रहित है अजर है वह इसलिए जब कार्य कारण भाव नहीं है तो जरा कहा से होगी अतएव अजर है वो जो अजर होता है वह तो अमर होगा जो अमर हो जाएगा वो अमृत भाव को प्राप्त कर गया अमृत भाव प्राप्त करने से वह अभय हो जाता है जो अभय है वह ही निश्चित निश्चित रूप से शुद्ध है जो शुद्ध है वह सदा सदा प्रसन्न है दुख का स्वरूप नहीं है स्वार्थ प्रतिष्ठा रचना क्योंकि अपने आत्म स्वरूप प्रतिष्ठित होने का रूप है इसलिए परमानंद अद्वैत विषय है पराविद्या का विषय है इति ठीक है आपने तो बोल दिया है तो आप ही लोग बोल देते मंत्रों की जरूरत क्या थी तो बात ऐसा हमने जो बोला है मंत्र के आधार पर तो बोल रहे हैं ये मंत्र तो ऐसे नहीं बताया तो भाषा का भूमिका में बात लिखते इसे पूर्वम तो विद्या प्रश्नार्थम आरंभ इसलिए सबसे पहले जो त्याग करने योग्य वस्तु है उसको बताना जरूरी है यह समझ कर अपने विद्या का विषय भूता जो संसार है उस विषय को प्रश्न करने के लिए आरंभ किया जाता है तब दर्शन ही तन निर्वेद उपपत्त है क्योंकि जब तक संसार के वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर लेते हैं तब तक इस संसार सबको वैराग्य नहीं हो सकता पहला भी जब किसी को